नैना के साथ जाने का एक फायदा तो विक्रांत को ये मिल रहा था कि उसे काफी खुद से ड्राइविंग नहीं करनी पड़ रही थी साथ ही रास्ते में नैना से केस को लेकर काफी बातचीत भी हो रही थी मैंने सुना है कि नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मिसिंग डिपार्टमेंट को गायब हुए बच्चे नितिन खरबंदा के सिमिलर चेहरे वाले कुछ लोग मिले हैं हाँ मिले तो हैं उनमें से कोई नितिन नहीं था डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला है विक्रांत ने सामने रोड की तरफ देखते हुए जवाब दिया अच्छा नैना ने सिर हिलाते हुए कहा अच्छा सही बात है इतने दिन पहले गायब हुए बच्चे को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा ही है अच्छा विक्रांत तुम्हें नहीं लगता कि ये बच्चों का कोई प्रैंक था क्या पता किसी बच्चे ने मजे लेने के लिए दूसरे बच्चे को छुपाने की कोशिश की हो और फिर बाद में मामला एकदम सीरियस हो गया हो क्या बात कर रही है यार वो दस दस बारह साल के बच्चे थे और बात आज से छब्बीस साल पहले की है तब ना तो बच्चे इतने होशियार हुआ करते थे और ना ही इतना प्रैंक वगैरह करने का चलन था और अगर एक बार के लिए मान लिया जाए कि बच्चे प्रैंक कर रहे थे तो फिर वो पैसे क्यों मांगते और फिर सुरंग के भीतर बच्चों की लाश बम विस्फोट ड्राइवर की मौत ये सब तो बच्चों का काम नहीं हो सकता ना हम्म सही बात है नैना ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया नैना की उत्सुकता देखकर विक्रांत को साफ पता चल रहा था कि वो इस केस पर काम करने को लेकर कितनी उत्सुक नजर आ रही है वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से नैना ने डीसीपी डिसूजा साहब की बात छेड़ दी मैंने ब्यूरो चीफ अभिजात सर से सुना है कि वो और डीसीपी डिसूजा सर एक ही टीम में काम किया करते थे और वो जब यंग हुआ करते थे तब उन्होंने बहुत से बड़े बड़े केस सॉल्व किए हुए हैं अपने जमाने में उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुजरिमों को जेल तक है उन्होंने काफी एनकाउंटर भी किए हाँ सुना तो मैंने भी है उनके बारे में वो बहुत तेज तर्रार ऑफिसर थे अपने जमाने के विक्रांत के खांसने के साथ उसे डीसीपी डिसूजा साहब की याद आ गई और उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था अमृतसर तो बोल ही रहे थे कि अगर डीसीपी डिसूजा साहब अभी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी यहाँ के ब्यूरो चीफ होते लेकिन अब वो कोई पद नहीं लेना चाहते हैं वो दूर रहकर ही डिपार्टमेंट को अपना सपोर्ट देंगे विक्रांत अभी मन ही मन नैना को गालियां दे ही रहा था नैना को सबक सिखाने को लेकर उसके दिमाग में तरह तरह की तरकीबें चल रही थी वैसे ये डिसूजा सर भले ही अब बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी अपना दिमाग खूब चलाते हैं ना जाने क्यों नैना डीसीपी डिसूजा के बारे में बात करने को काफी इंटरेस्टेड लग रही थी उन्होंने अपने सिर की सर्जरी करवा ली और ठीक भी हो गए तब भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया वो तो ब्यूरो चीफ अमृतसर अचानक ही उनसे मिलने के लिए चले गए तब जाकर पता चला कि उन्होंने सर्जरी करवाई थी और अब बिल्कुल ठीक है वरना किसी को उनके बारे में खबर ही नहीं होती हम्म विक्रांत एक मिनट तक सोचता रहा फिर अचानक से बोल उठा क्या क्या कहा तुमने अभी ए नैना हंस पड़ी मतलब तुम्हें भी डिसूजा सर के बारे में कुछ पता नहीं है जबकि तुम उन्हीं के ऑफिस में काम करते हो ओ गॉड सच में डिसूजा सर तो बहुत चालाक है बट कोई नहीं छोड़ो तुम क्या हुआ हेलो विक्रांत विक्रांत क्या हुआ तुम्हें ये बुढ़ा विक्रांत गुस्से से तिलमिला उठा यहाँ तक कि उसके माथे में लगी चोट से हल्का खून रिसने लगा ये भी साला ये बुढ़ा भी मेरे साथ गेम खेल रहा है सभी अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं लेकिन फिर अगले एक क्षण विक्रांत को एहसास हुआ कि भले ही डीसीपी डिसूजा साहब ने उससे झूठ बोला है लेकिन उनका उद्देश्य विक्रांत को नुकसान पहुंचाना नहीं था वो विक्रांत का भला चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया था उन्हें लग रहा था कि कहीं विक्रांत सस्पेंड होने के डर से नौकरी ना छोड़ दे इसलिए ही उन्होंने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर विक्रांत को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का मौका दिया था उन्होंने तो विक्रांत को अपनी खास डायरी भी दी हुई थी जिसमें उनके द्वारा कलेक्ट की हुई सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट थी वो डायरी देकर ही उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो विक्रांत पर कितना भरोसा करते हैं लेकिन फिर भी विक्रांत को अभी इस बात का थोड़ा बहुत दुख तो था ही कि डिसूजा सर ने उससे झूठ बोला था उसे बेवकूफ बनाया था नैना की ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी थी बहुत जल्दी वो लोग ओसारी में स्थित अशोक के घर के पास पहुंच गए विक्रांत को अभी तक अशोक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से वो पहले करजत माइंस के पास अपनी एक छोटी सी कंपनी चलाता था इस कंपनी का काम माइंस के अंदर खुदाई करने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा देना था वो खुदाई करने से लेकर खदान में से माल बाहर निकालने और फिर उसे मार्केट में बेचने तक सारे काम अपनी कंपनी के थ्रू करता था उसका ये बिजनेस बहुत चला था और आज भी वो ये काम करता है इसके साथ ही वो और भी कई तरह के बिजनेस करता है इस तरह उसने अपना हेडक्वार्टर मुंबई में बना रखा है यहाँ पुसारी में उसका पुश्तैनी घर है यहाँ अब वो कभी कभी ही आता जाता है उसके घर पहुंचने से पहले विक्रांत ने उसे दो तीन बार कॉल करने की भी कोशिश की थी लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाई या तो उसका नंबर इनवैलिड था या कोई कॉल उठा नहीं रहा था इसके बाद जब विक्रांत और नैना उसके घर पहुंचे तो उसका घर इतना भव्य बना हुआ था कि उसे देखकर ही दंग रह गए घर के बाहर खूब बड़ा सा गार्डन और फिर बीचों बीच फाउंटेन उसके साइड में गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह थी जिसमें काफी महंगी महंगी कार खड़ी थी विक्रांत कुछ पल तो हक्का बक्का होकर इधर उधर नजर ही फेरता रहा जब नैना और विक्रांत घर के भीतर दाखिल हुए तो वहाँ उन्हें सिर्फ अशोक का पोता ही मिला उसने बताया की दादाजी ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं यहाँ तो बहुत कम ही आते हैं अगर आपको उनसे मिलना है तो वही मुंबई में जाना पड़ेगा विक्रांत ने अशोक के पोते से भी कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश की लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था कुल मिलाकर अगर विक्रांत को अशोक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उससे मिलना ही पड़ेगा विक्रांत ने अशोक के पोते से उसका फोन नंबर लिया और फिर वहीं खड़े खड़े उसने अशोक के पास कॉल कर दिया फोन अशोक की लेडी असिस्टेंट ने उठाया उसने विक्रांत से मिलने का कारण पूछा और फिर विक्रांत ने भी सारी बात उसको बता दी फिर उसने अगले हफ्ते के किसी दिन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके विक्रांत को ऑफिस आने के लिए बुला लिया विक्रांत कुछ कहने ही वाला था की उसने फोन रख दिया विक्रांत को बड़ा गुस्सा आया